कल उसको हमारे साथ भेज दीजिए वो खाए पिए और खेले कूदे और बेशक हम ज़रूर ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं